मंत्रिकार इसको बहुत सुंदर समझाते हैं आवरण विक्षेप द्वयम अविद्या कार्य अविद्या का कार्य दो है एक तो आवरण है दूसरा विक्षेप ईश्वर भाव अप्रतिपत्ति अनिश आवरण ईश्वर भाव का अप्रतिपत्ति ही अनिशता है तो क्यों ही आवरण के कारण शोचती विक्षेप और शोचती ये शब्द विक्षेप को बोधन करा रहा है तद उभय हेतु अनिर्वाच्य मत ज्ञानम इन दोनों का भी कारण कौन है अनिर्वाच्य जो अज्ञान उसको मोह मुह्य माना मोह सबसे कहा तेन विशिष्ट उनसे विशिष्ट होकर के अनेक अनर्थ प्रकार अहम करम इत्यादि अविवेकतया तादात्म आपन्नते अहम करम इत्यादि अविवेक द्वारा तारत्व का प्राप्त हुआ है उसी को मूल में दूसरे शब्दावली में लिखा गया था कि जवी भावम आपन आजवम मन जवी भावम आपन्न कदाचित मूल भाषण वापस कदाचित अनेक जन्म से शुद्ध धर्म संचित निमित्त केनचित परम कारण के निर्देशित योग मार्गो कभी ऐसा भी हो जाए अनेक जन्मों में तो शुद्ध धर्म संचित शुद्ध मने निष्काम कर्मों को अनुष्ठान करने के कारण से उस संचित जो पुण्य है इस पुण्य के कारण के नचित परम कारण के न सदगुरुणा किसी कर्म करुणा में सदगुरु के द्वारा जो योग मार्ग दर्शा दिया गया दर्शित तो योग मार्ग उसे रास्ता बता दिया तब क्या रास्ता बताया कैसा मार्ग है वो योग मार्ग कहने से अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य सर्वत्याग समाज संपन्न दर्शित योग मार्ग उनके द्वारा दर्शन योग मार्ग अहिंसा है सत्य है ब्रह्मचर्य है सर्वत्याग सम दम आदि से संपन्न ऐसा होकर समाहित आत्मा समाहित अंतकरण वाला हो जाए वह जीव ऐसा होकर संत जुष्टम अदन्वय वही हमारा यदा जुष्टम सीधा कहा से आ गया उस यदा के लिए बीच में इतनी बात कही यदा मैंने कदाचित मान लो किसी गुरु की कृपा हो गई कोई संत ऐसे मिल गए अहिंसा सत्या का परिपालन करने की प्रक्रिया को बताते हुए साधन चर्चे संपन्न करा दिया और ब्रह्मोपदेश दे दिया जब तब जुष्टम सेवितम तब उस परमात्मा को अनुभव करता है ऐसा परमात्मा है कद सेवित है चुष्ट है किनके द्वारा अनेक योग मार्ग कर्म विश्व अनेक ही अनेक योग मार्ग शांतरीर योगी भी अर्थ योग मार्ग में योगियों के द्वारा योग मार्ग में निष्ठा रखने वाले योगियों के द्वारा केवल योगी नहीं कर्म विश्व कर्मियों के द्वारा यदा यस्मिन काले पश्यति जब अनेक योगी आदियों के द्वारा कर्मी आदियों के द्वारा सेवित उस परमात्मा को जिस समय वह अनुभव करता है ध्यायमान हो कैसे अनुभव करता है ध्यान करता हो अनुभव कर लेता है अन्यम वृक्षोपाय लक्षणाद विलक्षण किसका अनुभव किया ध्यान करते हुए जगत का नहीं जो दूसरा है स्व से बिन करके अभी तक जो ग्रहण किया था वृक्षादि उपाधि लक्षण से गृहित होता था इनसे जो विलक्षण होता वह ईशम असंसारिणम अशनाया पिपाशा शोक मोह जरा मृत्यतीतम और ईश्वर है ईशा ईश्वर क्यों है क्योंकि संसार का जो धर्म है असना पिपाशा शोक मोह जरा मृत्यु इन सब पर अतिक्रमण करके रहने वाला है ऐसा ईशम सर्वस्व जगत वो संपूर्ण जगत का ही ईश है अयम अहम अस्मी आत्मा सर्वस्व अनुभव का स्वरूप बताया पहला अनुभव क्या होगा अरे वह यह जो मैं यही संपूर्ण का आत्मा हूँ समह सर्वभूतस्ता और समह मैंने सर्वभूतों में समान रूप में स्थित हूँ नेत्र कोई इससे अलग कोई मैं कोई दूसरा नहीं हूँ उस ईश्वर से मैं अलग नहीं हूँ अविद्या जनित उपाधि परिच्छिन्नो मायात्मा अविद्या जनित उपाधि से परिच्छिन्न माया मैं आत्मा मैं नहीं हूँ ऐसा निश्चय कर लेता है विभूति महिमान और उस ईश्वर की विभूति मैंने महिमा जगत रूप क्या महिमा है ईश्वर का जगत है जो उसका विवर्त है यही उसकी महिमा है असैव मम परमेश्वर से तो जो परमेश्वर का है उसको तो मेरा ही है मेरी ही महिमा है यदा एवं दृष्टा जब यह जीव इस प्रकार का दृष्टा हो जाता है तथा तो वीत हो भगवती उस समय वह वीत शोक हो जाता है सर्वस्मा शोक सागरात विप्रमुचत कृतकृत्यो भगवती संपूर्ण शोक में जो सागर है या संसार इससे वह मुक्त हो जाता है अर्थात वह कृतकृत्य हो जाता है उसके बाद और कुछ भी कर्तव्य या ज्ञातव्य प्राप्तव्य नहीं रह जाता है क्योंकि वह स्वरूप उसकी निष्ठा बन जाती है यदा पश्य पश्यते अवरण करता रमीशम पुरुषम ब्रह्म योनि तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परम साम्यम उपैती यदा पश्य पश्यते रूप वर्णम अन्य एक मंत्र और आ रहा है उसी का वर्णन करने के जब यह दृष्टा जो चेतन जीवात्मा अपने आप को जो मान रहा था अब तक वह जब पश्य जीव वर्णम करदारम ईशम पुरुषम ब्रह्मयोनिम पश्यत वह स्वयं प्रकाश सुवर्ण के समान है सुवर्ण के समान चमकता हुआ वर्ण है जिसका अर्धस्व प्रकाश है उसको अनुभव किया और करता है संपूर्ण जगत के उत्पत्ति का करता है जगत निर्माता है वो ईश है और समर्थ है वह पुरुष है परमात्मा है और ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति का कारण है ब्रह्म का ब्रह्मा जी का भी योनीय कारण है ऐसे को जब वो अनुभव करता है तदा पुण्य पाप विदूय तदा सा विद्वान तब विद्वान जो है पुण्य पाप सब उसके झड़ जाते हैं सबसे अलग हो जाता है सबको त्याग करके क्या होगा वो निरंजन विशुद्ध हो जाता है विशुद्ध होकर के परमम साम्योपैति वह परम साम्यता परम साम्यम कर एक तो साम्यम होता है समान हो गया मैंने दूसरा ब्रह्म गया हो जाएगा फिर दो ब्रह्म हो जाएंगे इसे कहते नहीं उसके समान है दूसरा कोई हो नहीं सकते कि जैसे दूसरा ब्रह्म एक में द्वितीय है उसके जैसे दूसरा कहाँ से आएगा इसलिए परम निर्दिशय साम्यता सातिशय साम्यता नहीं है निर्देश साम्यता को प्राप्त कर जाता है यावत अविद्या और उसकी लीला होती तावत पर्यंत सातशे साम्यता तो हो सकता है निर्देश साम्यता साम्यता तो मोक्ष ही है अन्योपि मंत्र ममेल अर्थ सविस्तर अन्य कार मंत्र इसी अर्थ को सविस्तार प्रकट कर रहा है यदा यस्मिन गाले पश्या पश्य दीदी पश्या कौन विद्वान साधक है विद्वान है जो साधक है पश्यते पश्यते कह दिया मूल में आत्मपद कर दिया गया लेकिन है वो पश्यती समझो पूर्व पहले के समान यहाँ भी ग्रहण करना रुक्म वर्णम स्वयं ज्योतिष स्वभाव रुक्म वर्णम ने स्वयं प्रकाश स्वभाव है रुक्म से युवा ज्योतिरस्य अविनाश इसे रुक्म का वर्ण है चाहे जितना भी गला दो पिघला दो सब कर डालो तो भी उसका रंग बदलता नहीं है कभी सोना काला नहीं हो जाता सोना पीला नहीं होता जो उसका रंग एक विशेष वही सदा रहता है चाहे उसको गला दो कहते खोलता है कुछ भी करो उसका रंग में परिवर्तन कभी नहीं होता जैसा उसका रंग होता है वो नित्य होता है हमें इतना से तात्पर्य यहाँ जैसा उसका रंग नित्य होता है वैसे ही आत्मा भी उसका प्रकाश भी नित्य ये था तात्पर्य उपमा से योगा ज्योति अस्य अविनाश स्पष्ट कर उसका अविनाशित्व से हम तात्पर्य रहता है राम सर्वस्व जगत करता किसका करता है वो संपूर्ण जगत का ही वह करता है ईशम पुरुषम ब्रह्म योनि वह ईश है वह पुरुष है ब्रह्म योनि में तीनों शब्द इकट्ठे आया उसको समझाते ब्रह्म चत योनिश्च असौ ब्रह्म योनि वह ब्रह्म होता हुआ ब्रह्म का कारण है वो ब्रह्म ब्रह्मणो व अपरस्य योनि ब्रह्म चाहो निश्चित पहला कर दिया ब्रह्म होता है ब्रह्म है वो साथ संपूर्ण जगत का कारण है अथवा ब्रह्म जी का जो कारण जो अपर है उसका कारण होता है पर है स यदा जो वह साधक विद्वान जब एवं पश्यति ऐसे उस परमात्मा का अनुभव करता है तथा स विद्वान पश्य पुण्य पापे बंधन भूत है वह विद्वान जो पश्य शख्स से कहा गया था वह पुण्य और पाप बंधन का कारण भूता इनको कर्म कर्मों को समूल विदुया मूल ज्ञान सहित नष्ट करके निरस्य दग्ध जला करके निरंजनो निर्लेपो विगत क्लेश निरंजन हो जाता है अगर निर्लेप भाव स्थित समस्त क्लेश राग द्वेश आदि से रहित हो जाता है परम प्रकृष्टम निर्विषयम साम्यम परम ने प्रकृष्ट प्रकृष्ट में भी सातिशय का प्रकृष्ट हो सकता है इसलिए बाद स्पष्ट कर दिया निर्दिशय साम्यता को समता निर्देश साम्य क्या होगा वो अद्वैत लक्षण वो अद्वैत स्वरूप ही है निर्देश साम्यता द्वैत विषयानी साम्यानी अतो अर्वांची जो द्वैत विषय जितने भी है साम्यता वो सब निम्न कोटि के ही होंगे अतो अद्वैरक्षण में तो परम ये जो अद्वैत लक्षण साम्यता है वो परम है इसलिए परम विशेषण देना जरूरी हुआ सामोपैति प्रतिपद्यते तादृश अद्वैत भाव को ही जो अब तक द्वैत भाव में रहता रहा वो अद्वैत भाव को प्राप्त कर लेता है किंच इतना ही नहीं प्राण ही सर्वभूत विभाति विजानन विद्वान भवते नातिवादी आत्मक्रीड़ा करती ही क्रियावान ऐसे ब्रह्म विदाम वरिष्ठ यह जो प्रारंभ प्रारंभ परमेश्वर है प्राण ही ऐसा प्राणस्य चक्षुष चक्षु में यह सर्वभूत विभाग जो समस्त भूतों के द्वारा प्राण का वे प्राण रूप विभक्त करके हम सबका अनुभव का विषय बन जाता है उसको विद्वान विजानन उसको विद्वान जान करके नातिवादी भवते भवती तो भवते हो गया वह कभी अतिवादी नहीं होता अतिवदन नहीं करता किससे कथन करेगा ये कथन भी करे किसे करेगा सोलह सेकंड कोई दूसरा हो जब ये अनुभव कर ले मैं ही सब रूप में हो अब लड़ेगा तो किससे अपने से लड़ेगा तो इसलिए वो अतिवदन करने वाला नहीं होता आत्मक्रीड और क्या होगा वो वह आत्मा में ही क्रीड़ा करने वाला हो जाता है अपने स्वरूप में ही रमन करने वाला होगा अपने स्वरूप में ही वह क्रियावान होकर रहने वाला होगा क्रियाशील भी स्वरूप में ही है उसका वह प्रवृत्ताओं में भी श्रेष्ठतम माना जाएगा दिव्य आगे ना ब्रह्म विधान या ब्रह्म विधान से परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी उन सभी की अपेक्षा वह वरिष्ठ श्रेष्ठ हो जाता है किंजयोयम प्राण प्राण का जो प्राण है पर ईश्वर वो तो ईश्वर है प्रकृत कौन एज ये जो प्रकृत ब्रह्म है जिसकी चर्चा की जा रही है सर्वैर्भूत ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत ही ब्रह्मा है आदि में जिसका चेट पर्यंत जितने भी है समस्त भूतों के द्वारा इतम भूत लक्षण में यहाँ तृतीया समझो जटा भी तापसा बड़े है ना कहीं लघु में कि सिद्धांत में लघु में भी आया सिद्धांत में भी आया दोनों जो इतम भूत लक्षण तृतीय है नहीं लघु में नहीं सिद्धांत तो में ही है केवल जटा तापसा जटाओं के द्वारा उसकी तपस्या लक्षित हो रहा है तो आजकल नहीं हो सकता है आजकल तो बनावटी जटा को पहन लेंगे जोड़ जाड़ करके पहले जो वास्तविक जो था वो तो बैठे हैं कितने वर्षों से बैठे जटा देखने से पता लग जाता था कितने वर्ष उसने नहाया नहीं धोया नहीं अपने ध्यान भजन मग्न रहा है स्वरूप स्थित रहा सदा तो जटाएं उसको बता देते थे कि कितने महान तपस्वी है इतना बोध लक्षण कर दिया दृष्टान्त ही दिया गया तो यहाँ पर भी इन समस्त भूतों के द्वारा प्राण का भी प्राण रूप वह ईश्वर लक्षित है सर्वभूत सर्वात्मा सन्नित्यर्थ सकल भूतों में स्थित होकर सर्वात्मा होकर के त्यर्थ स्वी का आत्मरूपेण वही है क्योंकि अधिष्ठान वही है जितने भी चित्र होगा वो चित्र का आत्मा क्या होगा पटित होगा और क्या होगा उस चित्र का आत्मा ढूंढो तो क्या मिलेगा पट ही है पट से अलग वो चित्र है नहीं और चित्र की जो वहाँ उज्जीवितता है या अभिव्यक्ति का स्वरूप जो बना दिखाई दे रहा है उस अभिव्यक्ति का कारण तो पट ही है जो कारण है वही उसकी आत्मा है जैसे घट का आत्मा क्या है पूछे घर मिट्टी और है क्या मिट्टी ना हो तो घट का तो जो कारण है वही आत्मा है जैसे लोग व्यवहार में होता है वैसे यहाँ पर समझ लिखा जो कारण है वही विशुद्ध आत्मा है सर्वात्मा सनित्यर्थ विवादी विविधम दीप्य विविध रूपेण भाषित होता है प्रकाशित होता है अलग अलग उपाधि को लेकर अलग रूपे रूपेण भाषित हो रहा है या नहीं इसे अलग अलग कांच कांच तो बल्ब तो वही रहता है ऊपर में कागज चढ़ाते जाओ आजकल तो कांच ही अलग रंग के बना ले रहे हैं पहले तो कांच नहीं होते थे एक ही रंग आते थे अब उस पर वो सफेद जो है पीला लाल कागजों को लगा देते ऊपर से लगा रंग के आधार पर तो उसके प्रकाश में फर्क पड़ रहा है उपाधि के कारण से तो है ना प्रकाश इन बिजली का स्वरूप एक है बलबुर भी उपाधियों के स्वरूप में भेद आ गया तो सब भेद भेद हो गया उसके ऐसे ऐसे लाइट है की बस क्या कहा जाए नाचते गाते हुए दिखाई देता है नहीं देखा है ना हाँ बहुत जगह है और है अरे म्यूजियम में क्या है कुछ है ही नहीं वहाँ तो वहाँ क्या देखा वहाँ देखा तो कुछ नहीं देखा देखना होगा तो जाना पड़ेगा यहाँ से मैसूर जाना पड़ेगा वही देख सकते वृंदावन गार्डन से जो चमत्कार सारी दुनिया आती इसलिए देखने के लिए नहीं बहुत ही गजब बना रखा है तो वैसे एक से एक ऐसे उपाधि चीज तो एक में उपाधि ऐसे बना दिया है कि बस क्या कहा देखते रह जाए आदमी तो उसी तरह से भगवान का भी यहाँ प्रकाशन सभी उपाधियों के कारण से विविध रूपे न बाधित होने लगा परमात्मा भी एवं सर्वोदत्तम या साक्षात आत्मावेना अयम अहम अस्मी विचार जो सगल भूतस्व आत्मा को विद्वान कैसे जान रहा है साक्षात आत्मा से यह आत्मा ही मई हो ऐसे जान रहा है अयम आत्मा अहमेव अस्मी इति विचार ऐसा जानता हो विद्वान वाक्यार्थ ज्ञान मात्रे केवल वाक्याभियान से अनुभव दूर की बात है अनुभूति हो जाए फिर उसकी महिमा क्या गाई जाए तो ये कार्य परोक्ष ज्ञान भी यदि उसके सुनिश्चय हो गया वेदांत विज्ञान सुनिश्चित आता है इसलिए कहा वेदांत विज्ञान को सम्यक प्रकार सुष्ट रूप में निश्चय कर लिया उसने तो भी उसका जीवन में उसे किसे क्या बोलेगा चालेगा सब कुछ ब्रह्म ही हो जाएगा उसके लिए तो हो ठीक है भाई ब्रह्म है इस रूप में ठगने के लिए तो कोई बात नहीं अब ठग गए तो गया ऐसा कोई बात नहीं क्या दिक्कत ब्रह्म ही तो है उस रूप में भी तो कहते हैं स भवते स विद्वान भवते किम भवते भवती भवते का भवती न अतिवादी भवते है ना वो न को जोड़े भवती अर्थात न भवती वो नहीं होता क्या नहीं होता किम अतिवादी वो अतिवादी नहीं होता है अतिवादी किसे कहते हैं अतिथ्य सर्वान्य अनुभवीशील मस्जिद अतिवादी को अतिक्रमण करके कथन करने के स्वभाव वाला जो तो उसका नाम अतिवादी वाचाल अलग है और अतिवादी अलग है वाचाल अलग है दिन भर टर टर करने ही करते रहते कई लोग होते हैं यहाँ पांच उड़े चुप बैठ नहीं पाते यहाँ भी कुटर कुटर कुटर कुटर चाल करते अरे पांच मिनट तो चुपचाप रहो बाहर जाओ बात करना है यहाँ आए तो कम से कम शांत रहो ताकि यहाँ के वातावरण शुद्ध रहे माहौल ठीक रहे अब बाहर की बात यहाँ करते रहने से क्या फायदा नहीं हो यही करो एक मिनट में मौका मिल जाए उसे कुछ न कुछ आस पड़े से अगल बगल से कटर कटर चालू कर देते क्यों वो अलग है वो आचार है और अतिवारी ऐसा नहीं अतिवारी जो साहब को जो भी आप बोलो शास्त्र की बात है उसका भी खंडन कर देगा हर बात को खंडन करने चलने वाला है शिव कुमार स्वामी जैसे अतिवादी होते आप कुछ भी बोलिए उसके एक ही लक्ष्य खंडन करना है बस ऐसे महात्मा है दक्षिण भारत आप कोई भी संप्रदाय वाले हो आप कोई भी बात कह रहे हो उसे वो कोई मतलब नहीं उसको खंडन करना है बस दो है बल्कि एक नहीं दो महात्मा है एक तो लाल में और एक तो सफेद में घूमता है, है? अरे कहा मिले दो गली के कुत्ते एक चौराहे पर इकट्ठे हो सकते तो ही हाल है कभी नहीं हो पाते एक मंच में इसीलिए कोशिश किया लोगों ने अब क्या फायदा है पढ़ाने से भी कुछ तथ्य तो निकले तब तो लाभ है भाई मिलाओ तो विद्वानों को भाई दोनों के कोई निष्कर्ष निकलेगा और दुनिया को लाभ हो तब तो मिलाया जाए तो मिला के तमाशा देखना थोड़ी है ये तो विजय का काम है क्रीडा कहते इतने देखो वो अतिवादी होता है जो अतिथ्य सर्वान्या वही तुम शीलम अस्थित अतिवादी यम साक्षात आत्मा प्राण से प्राण विद्वान स अतिवादी न जो इस प्रकार से साक्षात उस आत्मा को प्राणों का भी प्राण रूप में जो अनुभव कर लिया वह कभी अतिवादन कर नहीं सकता स यदि अतिवादी ये भी की बात कह रहे हैं अपरोक्ष अनुभूति वाले की बात नहीं कह रही परोक्ष ज्ञान रहने वाला व्यक्ति भी अतिवदन नहीं कर सकता किसी दूसरे परोक्ष ब्रह्म ज्ञान नहीं जो ऐसे अतिवदन करने वाले हैं उनको परोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी नहीं हो तो शब्द ज्ञान को पकड़ के ना सके केवल शब्द को पकड़ा है उन्होंने इसे शब्द को तर्क जाल बिछा देंगे अर्थ को जाने ही नहीं इसे पहले कहा था उन्होंने कि वाक्यार्थ ज्ञान मात्र है ये अर्थ ज्ञान हो जाए तो भी उसका जबान बंद हो जाएगा और बोलना ही बोलेगा नहीं किसके खिलाफ किसके खंडन मंडन में लगेगा ही नहीं वो कोई यथार्थ कथन करेगा बस उसका ये नहीं रहता है लक्ष्य मैं अगला जो का खंडन करूं उसको नीचा दिखाऊं अब आपको महान दिखाऊं कुछ ये भाव रहेगा नहीं उसके दूसरा है ही नहीं ना उससे भिन्न यदि कोई दूसरा हो तो, तो उसको नीचे करे जब उसके बिन दूसरा है ही नहीं जितनी भी उपाधियों से जो कुछ भी बोला जा रहा है यही मान रहा मैं ही बोल रहा हूँ सभी उपाधियों से तो किसका खंडन करेगा तो मंचस्थ जितने भी बोल रहे हैं सब कौन बोल रहा है वो यही भाव उसका रहेगा मैं ही बोल रहा हूँ उस उपाधि से मैंने वो बात कही इस उपाय से ये बात कहा इस उपाय से दूसरी बात कहो फिर आपस में किसका खंडन करेगा नहीं क्योंकि वही सभी में रह रहा है वही मान रहा है वही सभी उपाधियों में रहकर अलग अलग उपाधि के माध्यम से अलग अलग विवेचन दे करके ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ आज कौन किसका खंडन करेगा खंडन कर ही नहीं इसलिए कहते वो अतिवादी कभी नहीं हो सकेगा सर्वम यदात्त नान्य दस्ती की दृष्टम क्योंकि ये जान लिया उसने अरे जो आत्मा है ना वही सब कुछ है उससे अन्य कुछ भी नहीं है ऐसे अनुभव कर लिया तो किम असु वे फिर बताओ किसको अतिक्रमण करके कथन करेगा नहीं किसी को भी अतिक्रमण करके वो कुछ नहीं कर पाएगा यश तो अपरम अन्य दृष्टम और जिस अज्ञानी के अंदर ये रहता है कि मेरे अलावा दूसरा है मैं तो ब्रह्म हूँ और ये दूसरा ये अब्रह्म ऐसे जिसकी अक्ल होता है आसुरी वेदांत वाले लोग वो आसुरी वेदांत आचार्य देवी वेदांत आचार्य नहीं है वो सब आसुरी वेदांत आचार्य मानना पड़ेगा जो ये मान रही है मैं अकेला मैं तो ब्रह्म हूँ लेकिन बाकी दुनिया सब सर्वम ब्रह्म नहीं अहमेव ब्रह्म अन्य सर्वम अब्रह्म ऐसे जो मानेगा तो उसकी कथा कर रहे देखो ये तो अपरम अन्य दृष्टम अस्ती स तद आतिथ्य उदती वही उसका अतिवरण करके कथन करने वाला हो जाता है अयंत विद्वान आत्मन्य न पश्यति नान्य छोती नान्य विजानाती और ये जो विद्वान है ना वो अपने से अलग दूसरे को न देखता है न सुनता है न जानता ही है इसे स्वास्थ्य भी जब दूसरा है नहीं तो किसको अतिक्रमण करेगा ये अतो नाति वदती इसलिए वजन नहीं करता है ऐसा जो उत्ति होगा फिर कैसा रहेगा वो कहा रहेगा क्या वो आत्मा में ही रहेगा आत्म क्रीड हो आत्मनियोग क्रीडा क्रीडन नान्यत्र पुत्रधारादिशो आत्मा आत्मा में ही क्रीड़ा है उसका समस्त क्रियाकलाप आत्मा में ही होता है अपने स्वरूप में ही है और उसकी निष्ठा जो है बाही जो पुत्र द्वार आदि है उनमें नहीं होता उस ऐसा व्यक्ति को क्रीडा कहते हैं तथा आत्मरति ही इसे वो किसमें रमन करेगा किसमें उसको सुख दिखाई दे रहा है आत्मा में ही सुख दिखाई देता है पुत्र द्वारा में सुख नहीं दिखाई देता आत्मनि एव चरती रमणम प्रीति सुखम आत्मरति ही क्रीड़ा और रति में अंतर क्या क्रीड़ा आत्मरति दोनों बराबर जैसा लग रहा है अरे नहीं क्रीड़ा में बाह्य साधन सापेक्षा खेल खेलने के लिए बाह्य साधनों की अपेक्षा होती है और रति के लिए बाह्य तो अंदर की बात है प्रेम जो होता है भीतर की चीज रति तो साधन निरपेक्षा बाह्य विषय विषय प्रीति मात्र बाह्य विषय का आपके हृदय में जो प्रीति है वो रति है और बाह्य विषय को बाह्य विषय के साथ संबंध कर व्यवहार जो है वो क्रीड़ा है साधन सापेक्ष हो गया और प्रीति साधन निरपेक्ष है दोनों ही लेकिन वायु विषय है दोनों वायु विषय इन वायु विषय होता हुआ एक बाह्य साधन सापेक्ष है एक बाह्य साधन निरपेक्ष इतना ही फर्क कदर देख देख के खुश हो गया और क्या करेगा समझ में आ गया ना तो देख देख के खुश होते हैं लोग इसलिए क्योंकि बाह्य साधन निरपेक्ष नहीं हो पा रहे फिर जब शादी करेंगे तब ना बात होगी उससे पहले तो देख के तो खुश होएगा तो दोनों फर्क हुआ कि नहीं हुआ क्रीड़ा के लिए तो शादी करना जरूरी हो गया और रति के लिए शादी के बिना भी हो सकता है तो उसी प्रकार यहाँ पर भी लेकिन ये दोनों ही वायु विशेष निष्ठ ही होता है बाहर में हम जो लोक व्यवहार में जो क्रीड़ा है लोक व्यवहार में जो रति है उसकी निष्ठा कहाँ है लक्ष्य कहाँ है उसका विषय में ही है विषय निष्ठ क्रीड़ा विषय निष्ठ रति है लेकिन निष्ठ क्रीड़ा साधन सापेक्ष है विषयनिष्ठ रति साधन निरपेक्ष इतना ही अंतर और ये जो विद्वान है इसके लिए क्रीड़ा और रति का निष्ठा कहाँ बन रही है आत्मा विद्वान ये है सब कुछ आत्मा ही है प्रति तो साधन निरपेक्ष भाई विषय प्रति मात्र विशेष तथा क्रियावान ज्ञान ध्यान वैराग्यादि क्रिया यस्य स्वयं क्रियावान उसी क्रिया में क्या होगी ज्ञान ध्यान वैराग यही उसकी क्रिया होती तो खाना पीना नहीं वो खाना पीना तो प्रारब्ध कर्मानुसार शरीर का हो रहा है उसे कोई लेन देन नहीं है वो अपने से ही कोई क्रिया करता है तो स्वाध्याय भी क्रिया करेगा ध्यान रूपी क्रिया करेगा वैराग्य चिंतन रूपा जो क्रिया करेगा यही दर्श क्रिया वाला ही वो आत्मज्ञानी होता है समास पाता आत्मरतिरेव क्रिया अश्य विदित आत्मरधि कर विसर्ग नहीं है कुछ लोगों ने समाज पाठ कर दिया आत्मरधिक्रिया एक पद कर दिया उस दिशा में क्या करोगे तब कहते भाषाकार आत्मरतिर एव क्रिया अश्य विद्यते आत्मरधिक्रियावान एक पद बन जाए ये बहुरी ही मतवर्त और अन्यत्र अतिरिक्त है बहुरी समास और मतवर्त ये अधिक कल्पना करनी पड़ जाएगी यदि आप एक पद बना के समास मानोगे तो आप बहुरी समास भी करनी पड़ेगी और वर्त भी क्रिया अस्य कहना पड़ेगा ना आपको अस्य करके आप बहुरी भी बना दे रहे हो और साथ साथ वर्त भी लेना पड़ेगा है ये नहीं तद अस्य अस्थिति मतुब हो जाता है अस्य अर्थ में भी होता है अस्मिन अर्थ में भी होता है तदस्य तस्मिनिटी मतुब इसलिए अस्य अर्थ बोलोगे एक तो वह और दूसरा बहुपद है ना क्रिया से अस्तित्व क्रिया ये तो मधुम हो गया लेकिन आपने क्या आत्मरतिर क्रिया अस्य ऐसा कर दिया ये तो बहुरी हो गया अमतवर्त भी ये अधिक आपको कल्पना करना पड़ जाएगा अतिरिक्त के चित्तू कुछ लोग क्रियावान को इस तरह से व्याख्या कर लेते हैं अग्निहोत्र आदि कर्म ब्रह्म विद्यो समुच्चय अर्थ विचलती और दोनों की कथा करते क्रियावान में कर्म वाला कौन सा कर्म अग्निहोत्र आदि कर्म करता है वो अरे आत्मक्रीड वाला जो आत्मक्रीड और आत्मरति है वो अग्निहोत्र काम कैसे करेगा लेकिन पूर्व पक्षी कहते हैं क्रियावान क्रिया शब्द रूढ़ है प्रसिद्ध भी है किसमें अग्निहोत्र आदि कर्म में इसलिए केचित्व का मत है इस मंत्र को समुच्चयवादी अपने समुच्चय पक्ष का समर्थन कर लेता है अग्निहोत्र आदि कर्म ब्रह्म विद्यो समुच्छयाथम इच्छी तत्ष ब्रह्म विदाम वरिष्ठ ऐसे छोड़ दिया वहीं वाली चंदी करके के चित्तु चंदी लेकिन उचित नहीं है क्योंकि पौर्वा पर विचार करके देखिए पूर्व में आया आत्मक्रीड़ा आत्मरति है ना और आगे ब्रह्म विदाम वरिष्ठा पूर्वोत्तर में शुद्ध ज्ञानी का प्रकरण में भी जो कर्म को घुसा रहे हो कर्म विदा वरिष्ठ होता तभी मान लेते जो आत्मक्रीड होकर आत्मरति होकर के जो अग्निहोत्र आदि कर्म करता है वो कर्मव्यता में श्रेष्ठ है ऐसा आप नहीं सोचते थे यदि हम वहां कर्म विधान वरिष्ठ होता तो लेकिन पाठ ब्रह्म विधान वरिष्ठ है जो ब्रह्मवत्ता में वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो आत्मक्रीड है आत्मरति है तो उसकी क्रियाएं भी उसके अनुरूप भी होना पड़ेगा ना और अग्निहोत्र आदि क्रियाएं ब्रह्मवत्ता में वरिष्ठ होने के अनुरूप नहीं हो सकता वो तो बाधक है इसलिए कहते हैं ब्रह्म विधान वरिष्ठ इत्यादि ना मुख्यार्थ वचन विरुद्ध थे वह यह जो समुचार्थ जो चाहे लोग उनकी वह अर्थ ब्रह्म विधान वरिष्ठ इत्यादि जो मुख्यार्थ को कथन करने वाला उत्तरार्थ जो उत्तर मंत्र है उसके साथ विरोध हो जाएगा नई बाह्य क्रियावान आत्मर्दश्य भवितुम शक्त कश्चित बाह्य क्रिया विनिवृत्त ही आत्मक्रीड़ो भवती क्योंकि बाह्य क्रिया वाला कोई भी व्यक्ति हो वो आत्मृति कभी नहीं हो सकता है क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति बाह्य क्रिया से निवृत्त है वही आत्मक्रीड होता है बाह्य क्रियात्मक्रीड और विरोधा क्योंकि बाह्य क्रिया और आत्मक्रिया दोनों में परस्पर विरोध है एक बार ऐसी चर्चा होता रहा एक बार एक जगह तो बार बार उनका जोर ये देना था इस संसार का सब व्यवहार करते हुए भी हम ब्रह्मानंद अनुभूति क्यों नहीं कर सकते इसको सत्य मानकर जगत को सत्य मानकर जगत का सकल व्यवहार करते हुए मैं जीव हूँ ये भी सत्य मान लो मेरे से ईश्वर है ये भी मान करके भी हम ब्रह्मानंद क्यों नहीं अनुभव कर सकते क्यों क्योंकि सब कुछ ब्रह्म तो है ही है ब्रह्म का ब्रह्म कैसा व्यवहार हो रहा है तो क्या दिक्कत है तो हमने उसको कहा अच्छा, एक बात बताओ सबके साथ व्यवहार करते हुए आनंदानुभव होता है कि नहीं होता बात की बात है पहले मैं ये बताइए आप कभी चुपचाप बैठना चाहते हैं कभी आपका मन में आता है कि नहीं आता है मैं अकेले में चुपचाप बैठू शांति से बैठू आता है कभी आते रोज ही मैं एक घंटा ध्यान करता हूँ क्यों करते थे क्यों करते समझाने पहले क्यों पूछ रहा है फसा देगा करके मुझे जवाब दे हाँ मैं करता हूँ मैं चाहता ही हूँ अधिक से अधिक समय बैठो लेकिन एक घंटा ही बैठ पाता हूँ उनका कोई बात नहीं आप एक घंटा बैठना चाह रहे हैं ना बैठ भी रहे हैं क्यों बैठना चाहते जब जगत पे व्यवहार करते हुए सब कुछ ब्रह्म है ब्रह्म का ब्रह्म के साथ व्यवहार करके ब्रह्मांत में अनुभव करना की बात कह रहे हो फिर अलग क्यों बैठ रहे हो भाई क्यों अलग बैठ रहे हो एक बैठ रहे इसका मतलब ब्रह्म का ब्रह्म के साथ व्यवहार करने से ब्रह्मानंद नहीं होता तभी तो व्यवहारों को छोड़ के तुम अलग बैठना चाह रहे हो या नहीं यदि व्यवहारों से विनिवृत्त होकर के तुम बैठते ही नहीं और चाहते भाई हम चौबीस घंटा काम करते रहो तो मैं बड़ा आनंद से रहता हूँ तब तो तेरा बात हम मान लेते हैं चलो ब्रह्म का ब्रह्म के साथ सारा व्यवहार हो रहा है फिर भी ब्रह्मानंद में रह सकता है उसको ध्यान भजन जाप तप कुछ करने की जरूरत नहीं लेकिन तुम्हारी अपना अनुभव ही बता रहा है तुम्हारी अपनी बात गलत इसका यही हुआ ना आत्मक्रीड जो होगा बाह्य क्रीड हो नहीं सकता जो बाह्य क्रीड होगा उसको आनंद नहीं मिल सकता उसके वचन से बात सिद्ध हो गया मुझे तुम्हारी अनुभव ये बात बता रहा है जगत व्यवहार से आनंद अनुभव नहीं हो सकता इस जगत व्यवहार से निवृत्त होने पर ही तुमको शांति मिलती है आनंद मिलता है इसलिए हमें कहना पड़ता है जगत को जब तक मिथ्या नहीं कहोगे नहीं मानोगे दृढ़ निश्चय नहीं होगा तब तक जो है तुम अनुभव ये युक्ति है वहाँ पर नहीं तम प्रकाश युगपद एक स्थिति संभव दे अंधकार और प्रकाश दोनों युगपद एक देशा छीदे न दोनों की स्थिति नहीं हो सकती है जैसे तस्माद असत कल्पितम में वही तक अन्य ज्ञान समुच्च प्रतिपादन इसलिए उनका जो प्रति प्रलपन है वो असत्य ही है क्या कि जो ज्ञान समुच्चय ज्ञान कर्म समुच्चय करने के लिए बीच में क्रियावान शब्द कहा गया है ऐसा उन लोगों का कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि इसी मुंडक में पहले कहा अन्य वाचो मुंच दो दो पांच में द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का पंचम मंत्र में कहा गया और आगे भी कहेंगे तृतीय मुंडक में का द्वितीय खंड वाला छठे मंत्र में संन्यास योगा शब्द प्रयोग करेंगे इत्यादि श्रुति यहाँ पर उपक्रम को संहार देखते हैं आगे पीछे विचार करते हैं तो स्पष्ट ये होता है कि त्याग के बाद ही पूर्ण शांति यह क्रियावान जो ज्ञान ध्यान क्रियावान इसलिए बात मानना पड़ेगा यह क्रियावान शब्द का यही अर्थ है कि ज्ञान ध्यान आदि क्रिया वाला होगा असंभिन्न अर्थ मर्यादा संन्यास अर्थ मर्यादा वह तो संभिन्न अर्थ मर्यादा वाला नहीं होता अर्थात वह जो आर्य मर्यादा है असंभिन्न आर्य मर्यादा अर्थ नहीं हो आर्य मर्यादा असंभिन्न आर्य मर्यादा वह जो है वैदिक मर्यादा का उल्लंघन करने वाला नहीं होता सन्यासी यह एवं लक्षणों जो इस प्रकार का सन्यासी होता है नातिवादी उसी को कहा गया अतिवादी नहीं होता क्योंकि वह आत्म क्रीडे आतरती है क्रियावान ब्रह्मनिष्ठ वह क्रियावान है ब्रह्मनिष्ठ स ब्रह्मिदाम सर्वेशा वरिष्ठ प्रधान वह सकल ब्रह्मवेत्ता परोक्ष ज्ञानियों के में वह सर्वश्रेष्ठ माननी चाहिए अब वो साधन बता रहे जो सहकारी कारण बताना चाहिए उसी बातों में लौट रहे हैं अधुना सत्यादिनी भिक्षा समज्ञान सहकारिणी साधना विधीयंद निवृत्ति प्रदानानी अब सत्यादि जो भिक्षु हो सम्यक ज्ञान सहकारी किसके लिए भिक्षु सन्यासी जो ज्ञान मार्ग में आया हुआ है उस ज्ञान योगी के लिए जो सम्यक ज्ञानानुभूति के लिए आवश्यकीभूत सहकारी जो साधन है उनको विधान कर रहे हैं और ये भी साधन कैसे है निवृत्ति प्रदानी प्रवृत्ति प्रदान नहीं है निवृत्ति परायण साधन नहीं है इन साधनों को अपनाने वाला पूर्ण निवृत्ति को प्राप्त कर जाएगा क्या क्या है सत्य लभ्य तपसा ही आत्मा सम्य ज्ञाने ब्रह्मचर्य नित्यम अंत शरीर ज्योतिर्मयो ही शुभ्र यम पश्यंदी क्षीण दोषा सत्य यह आत्मा मिथ्या भाषण को त्यागने पर ही लाभ होता है वाक संयम मिथ्या भाषण स्व प्राण रक्षा के लिए भी जो नहीं करे स्व प्राण रक्षा के क्यों शरीर मिथ्या है तो उसकी रक्षा करने की चेष्टा क्यों करेगा जब वास्तविक निवृत्ति पारायण होगा वह प्राण रक्षा करने के लिए भी झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि वो जानता है स्वासान से जीर्णानी यथा भी है इतना आने जाने वाला शरीर है इसको बचाने के लिए क्यों मैं झूठ बोलू इसको बचाने की तरह झूठ बोला तो मैं अपना लक्ष्य ब्रह्म ज्ञान से चढ़ गया इसलिए जो प्राण रक्षा में झूठ ना बोलने वाला ऐसा होना पड़ेगा यदि ब्रह्मानुभूति करना है तो तपसा येष आत्मा और तप के द्वारा तप वही है जिसे व्रत करते हो है ना व्रत तपस्या करते कि नहीं करते एकादशी का व्रत करते हैं लोग नहीं उठो तो की तो आटे के तो मालपुआ खा के कर ऐसा नहीं ये तपस्या नहीं है तपस्या थोड़े है तो वास्तविक तब करके आप तब इसलिए क्या ना मन और इंद्रियों का एकाग्रता की ओर ले जाने वाला तप मन इंद्रियों को एकाग्रता की ओर ले जाने वाला जो तप है उसी को तप से लेना है समय ज्ञानी न ब्रह्मचर्य नित्यम और समय ज्ञान और आत्मा संबंधी जो गुरुमुख से श्रुतियों का उपनिषदों का सम्यक श्रवणात्म ज्ञान के द्वारा ये समय श्रवण नहीं हुआ हमारा निध्यासन होगा नहीं इस सम्यक विधिवत श्रवण के द्वारा ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्मचर्य के द्वारा एश आत्मा ये जो आत्मा है कैसा है ज्योतिर्मयो ज्योतिर्मय है कहा लभ्य अंत शरीर लभ्य वह शरीर के भीतर हृदय की गुफा में लभ्य है और कैसा है वो शुक्र प्रकाश स्वरूप होने से ज्योतिर्मय होने से वह शुद्ध है वह शरीर के भीतर है हृदय काश में रहता है यम जिस आत्मा को क्षीण दोषायतया पश्यंती सकल पाप आदि दोषों से रहित व्यक्ति यति लोग ही यत्नशील यति लोग है सन्यासी है वे ही लोग उस आत्मा को देखते हैं भाष्यकार सत्य न अनुत त्यागे न मृषा वजन त्यागे न अनुत का वजन का, त्याग से अनुत का त्याग का मतलब मृषा वदन का त्याग अमृत का कथन नहीं करना मैंने ब्रह्म का ही कथन करूंगा ऐसा समझना जब भी कथन करनी है तब चिंतनम तत्कथनम तद अन्य अन्य प्रबोधनम यही होना चाहिए जगत का नहीं चर्चा जगत की चर्चा करना मृषावधन और वास्तविक तो झूठ तो झूठ है ही जगत चर्चा भी मृषा इसलिए जान करके अंतर त्याग की व्याख्या किया मृषावधन त्यागी जगत विषय का कथन को मृषावधन कहते हैं उसका भी त्याग द्वारा मैंने जगत चर्चा बिल्कुल ही नहीं कर लभ्य मैंने प्राप्त तपसा ही इंद्रिय मन एकाग्रत तप गाने कौन सा था मन और इंद्रियों को एकाग्र करने वाला तप से इंद्रिया चाहिए एकाग्र परम तप मन और इंद्रियों की एकाग्रता का नाम ही परम तप है यदि एकाग्र नहीं हो रहे हैं इसका मतलब हमारे द्वारा विस्थाप हुआ ही नहीं है ये समझना पड़ेगा तभी अनुकूलम आत्मदर्शनाभिमुखी भाव परमम साधनम क्योंकि वो अनुकूल होता है आत्मा का दर्शन के लिए अभिमुख करने में अभिमुख होने में सहयोगी होता है अभिमुखी भाव परमम साधनम वह परम साधन कौन तपा नेत्र चांद्रयन आदि वो जो कृषि चांद्राण आदि करते हैं वो परम तप नहीं है वो भी तप है एकाची व्रत आदि भी तप है लेकिन ये सब तप परम तप नहीं क्योंकि ऐसा मन और इंद्रियों को एकाग्र करने में सहयोगी उतना नहीं होते हैं जितना एकाग्र करने के साधनों को आप अपनाएंगे और उन साधनों का अनुष्ठान से होने वाला तप होता है उसके समान ये सब नहीं है ये आत्मा लभ्य इतने संग्रह सर्वत्र सर्वत्र अनुसंग्रह सत्य न एस आत्मा लभ्य तपसा ही ये आत्मा लभ्य समज्ञानी नहीं ये आत्मा लभ्य ज्ञान में यथाभूत आत्मदर्शन ब्रह्मचर्य मिथुना समाचारेण समय ज्ञान के द्वारा मैंने यथाभूत आत्मदर्शन के द्वारा ब्रह्मचर्य के द्वारा मैथुन का असमाचरण के द्वारा अष्टला मैथुनों में से किसी भी प्रकार का मैथुन का असमाचार के द्वारा नित्यम सर्वदा अभी ये नहीं कुछ दिन के लिए कर लिया आमरण काल पर्यंत सर्वदा आप लोग को सुनाया हुआ है पहले कहानी महात्मा जी की कहानी नहीं वेश्या रास्ते मेरी पूछी और कही महात्मा जी आप हमारे घर में चरण रखिए हमारे तब होता क्या है तो वो जवाब दिए नहीं मैंने कहा कि नहीं एक हफ्ता के बाद दूंगा मैं महात्मा नहीं या नहीं ये तो पता ही नहीं अभी मेरे को तुम तो महात्मा मान रही हो ना मुझे वेश को देख करके लेकिन मैं मारता हूँ या ना हूँ मेरे कोई मालूम नहीं एक हफ्ता समय दो निश्चय करके बताऊंगा एक हफ्ता फिर पूछी कहते अभी निश्चय नहीं हो सका है एक हफ्ता बाद पूछो ऐसे करते करते एक महीना हो गया चार बार हो गया चौथी बार जब वो पूछी तो कहने का पूछा ही नहीं तो बस जब मैं निश्चय कर लूंगा कि मैं महात्मा हूं मैं तब तुमको बताऊंगा तुम बार बार मत ठीक है महाराज जैसा और दिन मर रहे थे खाट पे पड़े हुए उस दिन उसको बुलाए और कह मैं महात्मा हूँ क्यों ऐसे कहा कि कारण कर्म का भरोसा नहीं इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं